सब उस प्रकार निष्कपट भाव से भगवान परम परमात्मा है और हमारा धर्म है उनकी शरण में जाना उनकी सेवा करना यही हमारा धर्म है ऐसे समझ के करो और जो उसका उत्तम फल प्राप्त होता वो होगा अपने आप प्राप्त होगा उसकी कोई कामना रखने की आवश्यकता नहीं बस ये उसकी अंतिम शिक्षा थी कुंभकर्ण की जो विभीषण को उसने दी तो अब कुंभकर्ण की जो शिक्षा है वो भी इतनी पंक्तियों में विभीषण के लिए तो है ही है लेकिन अन्य अन्य लोगों के लिए भी है जो भगवान की साधना में लगे हुए हैं भगवान का भजन कीर्तन उपासना आदि लगे हुए हैं उन सभी के लिए ये उपदेश है तुलसीदास जी का समझो ये शंकर जी का समझो सभी लोगों के ही करना चाहिए निष्कपट भाव से भगवान की शरण में जाकर के सेवा भाव करनी चाहिए ये भी याद रखें कि ये विभीषण जो है ये है जीव है तो जीव का धर्म क्या है जो विभीषण को बताया गया यही जीव का धर्म जीव को चाहिए कि भगवान की शरण में जाए और मन वाणी और कर्म से भगवान के समर्पित रहे और उन्हीं की सेवा में लगे और उसको वो सब करने में न अहंकार रखे और न लौकिक स्वार्थ मन में लावे ये भी न सोचे कि देखो भगवान की हम सेवा करेंगे तो लोग बात हमारा बड़ा आदर सत्कार करेंगे ऐसे कहीं कोई किसी प्रकार का ये भाव मन में न लावे सब कपट भाव सब अहंकार छोड़ करके इस प्रकार का कपट भाव छोड़ करके निष्कपट होकर के भगवान की सेवा करे आप कहते हैं कि ऐसा कह करके कुंभकर्ण क्या कहता है विभीषण से कि जाओ अब तुम जाओ हम्म। स्वयं भगा देता आपको कहता विभीषण आप तुम जाओ वहीं भगवान राम के पास जाओ अब बस न निज पर सूझ मोई अब मुझे अपना पराया कुछ नहीं सोचता अपना पराया कुछ नहीं सोचता कि मेरा अब जो है नशा चढ़ रहा है और बस मुझे यही है कि बस मारो मारो काटो काटो बस युद्ध की बात मुझे समझ में आ रही है जो सामने आ जाएगा वो मरेगा अब मैं ये नहीं देखूंगा कि हमारे वंश का कोई सामने आ गया है कि राक्षस आ गया है कि बानर आ गया कि भालू आ गया कि कौन आ गया जो हाथ पड़ जाएगा जो सामने पड़ जाएगा वो मरेगा इसलिए मेरे सामने मत पड़ा भाग दूंगा प्रकार को कहते जाओ न निज पर सूझ मुई भयू काल बस और कहा मैं भी अब जो है समय बस इस प्रकार से मारते मारते मैं भी मर जाऊंगा और मैं भी काल के बस में हो गया मेरी भी मृत्यु निकट आ गई रावण की भी मृत्यु आ गई निकट मेरी भी मृत्यु निकट आ गई अब यहाँ पर दोबारा जो रावण से बात कह चुका वही भाव उसके मन में है रावण को कह चुका कि मुझे पहले नारद जी मिले थे और उन्होंने सब मुझे भविष्यवाणी बता दी है बस वही घटना उसी प्रकार घटी हुई थी लोग भविष्यवाणी बताते हैं उसका फिर चिन्ह भी बताते हैं नारद जी ने भविष्यवाणी की कि देखो तुम्हारा सबका एक समय आएगा सबका साक्षर वंश का नाश हो जाएगा भगवान अवतार लेंगे सबका विनाश कर देंगे ये सब कब होगा कि बस उसकी पहचान बता दे तुमको जब तुम सो रहे हो और छह महीने की नींद तुम्हारी पूरी न हुई हो और बीच में तुम्हें कोई जगा दे तो बस समझ लो ये उसकी पहचान आप आपको ने कहा देखो पहचान की बात जो चिन्ह की बात भी आ गई हमें आखिर में जगा भी दिया गया और उसके बाद अब वो और बस अब वो भगवान ने अवतार भी ले लिया है और इस प्रकार से सीतारण भी हुआ और रावण मरेगा रावण भी मरेगा सब निशाचर जितने वो भी सब मरेंगे उसने समझ लिया मैं भी मेरी भी मृत्यु आ गई मैं भी मरूंगा उसका निश्चय लेकिन मरने की तैयारी करते हुए वो उसके पहले युद्ध क्षेत्र में मारते हुए मरता है जितने लोगों को मारता है जहाँ तक हो सके विनाश कर सके उतना करते करते सब वो मरता है आगे देखो उसके युद्ध प्रारंभ होता है बंधु वचन सुन चला विवेक आयो जहाँ त्रय विवेक नाथ भूधरा तार शरीरा कुंभकरण यावतरण इतना कपिन सुना जब काना दिल खिलाए गाए बलवाना लिए उठाए बिटपे रूदर कट जा रही ताऊ पर कोटि कोटि गिर शिखर प्रारा करही भालू कभी कई बारा मुड़ियो न मनु तन करियो न तारियो जिम गज अर्थ फल को मार्यो सर्वमार्थ सुख मुठिकान्य पर्यो धरण व्याकुल सिर धन्यो पुन उठते मार्यो हनुमंता गुणमित भूतल पर्यो तुरंता पुनि नल नील पसारती जहाँ तहाँ पटक पटक भटकार से बली मुख सेन पर आई अति भय त्रसित न को समुहाई अंगदादि कप मूर्छित करी समेत सुग्रीव मुख्यता कपिराज तो कहूँ चलाय मित्र बलती सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो बंधु वचन सुन चला विभीषण जब कुंभकर्ण ने ऐसा बोला कि तो अब जाओ तो विभीषण वहाँ से चल दिया लौट करके आ गया और आयु जहाँ त्रैलोक विभूषण जहाँ भगवान राम थे त्रैलोक विभूषण भगवान राम भगवान राम के पास लौट करके पहुँचा विभूषण और उनसे बोला कि नाथ भूधराकार शरीरा ये भगवान भूधर मन पहाड़ के समान जैसे पहाड़ का आकार मैंने बहुत विशाल शरीर धारी वो कुंभकर्ण अवतरण पीरा कुंभकर्ण आ रहा है रणवीर कुंभकर्ण रण रंग कुंभकर्ण मान युद्ध में बड़ी वीरता के साथ लड़ने वाला क्षति भी बहुत और वीर भी बहुत मैं ऐसा युद्ध करने के लिए कि मरने के लिए तैयार होकर के आया हम्म, ऐसा चला रहा है रण रंग तो कुंभकर्ण अवतरण रणधीरा अब देखो दो रणधीर है एक तो भगवान राम रणधीर है और एक रणधीर कुंभकर्ण कुंभकर्ण भगवान राम को रणधीर कहता है कहता बचन करम मन कपट सज भजे राम रणधीर तुम कर्ण कहता रणधीर है तो भगवान राम हम्म। और रणधीर करके भगवान का स्मरण क्यों करता है कि जो व्यक्ति जैसे स्वभाव का होता है भगवान को वैसे ही स्मरण करता है ये सब मनोवैज्ञानिक बातें अभ्यास में अधिकांश मनोविज्ञान है निन्यानवे परसेंट मनोविज्ञान की ही बात है कैसे भगवान प्रिय लगते हैं किसी को जैसे उसके मन में भाव होता है और ये सब बात कहेंगे ऋषि मुनि लोग सब जानते हैं कथा इत्यादि सब जगह इसी प्रकार का वर्णन देखते हैं बालकांड से दिखाई देता है कि मन और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो तो मन शत्रुपा ने तमाम संतान उत्पत्ति की पुत्र पुत्रियां पैदा फिर उनके भी पुत्र पुत्रियां तमाम परिवार पढ़ा तो मन शत्रुपा को पुत्र प्रेम उनके हृदय में बढ़ा और पुत्र बड़े प्रिय लगते रहे खूब खिलाते रहे खूब उनको पालते पोसते रहे तो उनको पुत्रों को पालते पोसते पालते पोसते वैसे ही उनकी प्रवृत्ति बन गई हम्म। अब जब भगवान जी आ गए सामने और वरदान मांगने के लिए कहा तो वरदान क्या मांगे तो हे भगवान एक पुत्र और चाहिए अभी तो बहुत तो पुत्र हो गए कि नहीं अब तुम्हारा जैसा तो मिले ही नहीं ये बात कहा से आगे पुत्र की अरे दुनिया में ऐसे वरदान मांगने के बाद से तो मन सदरूपा को पतरेगी वरदान मांगने की तो बात कहाँ से पड़ेगी जब तक उसके भीतर मन में कोई इस प्रकार की प्रवृत्ति वृत्ति नहीं होगी संस्कार वासनाएं नहीं होंगी तब क्यों इस प्रकार निकलेगा मुझे जो भीतर भरा होता है वही बाहर निकलता है है ये भी युद्ध करने में अपने आप को पहले भी बहुत युद्ध कर चुका है जब ये रावण ने तीनों लोगों की विजय की तो रावण ने विजय की इसने भी की ये भी कुछ देवताओं से लगा लड़ा इंद्र आदि को कई बार उसने पराजित किया इसने कुंभकर्ण ने इंद्र का जो हाथी था जिसके ऊपर चढ़ करके युद्ध करने आते थे इसने कुंभकर्ण ने उसके हाथी की दांत ही तोड़ लिए इसने कहा आप ही से घाव करते रह गए अब देखो ये था शक्तिशाली था पहले ही से ये बड़ा शक्तिशाली भी था और युद्ध में बड़ा प्रेम था हर जगह जगह विजय हो जाती थी इसकी कोई तैयार ही नहीं था तो इसका युद्ध करने में इसका आसमान तो दिमाग इसका खड़ा हुआ तो बड़ा ही स्वयं रणधीर था तो भगवान को भगवान से दिखाई दी तो रणधीर दिखाई रणधीर भगवान जाओ उनके पास उन्हीं का भजन करो उन्हीं की सेवा करो उसको लगता है किसकी सेवा करना चाहिए जो रणवीर हो ऐसे कटर पटर लोगों की क्या सेवा सेवा करना तो क्या करना भगवान नाम क्यों महान है क्योंकि तो रणवीर है उसे और कोई महानता भगवान जी नहीं दिखाई दी रणवीरता उसे महानता दिखाई तो रणवीर शब्द अभी सुन करके आई था विभीषण भगवान राम के पास आज कहता है कि भगवान आपको रणधीर हो ही है कुंभकर्ण मानते ही है लेकिन कुंभकर्ण तुम रणधीर नहीं जो आपको रणधीर मानता है हम्म? तो कुंभकर्ण आप रणधीरा वही रणधीर है इसलिए मैंने तुम्हारी आपस में चक्कर होगी अब फोन लड़े कुंभकर्ण से आप तैयार हो जाओ आपका और कुंभकर्ण का युद्ध होना है अभी तक आप अपने अस्त्र शस्त्र संभाले बैठे रहे युद्ध तो नहीं किए अब समय आ गया इतना कथन सुना जब काना तुम जिस प्रकार से विभीषण जब भगवान को बोल रहा था तो और बानरों ने भी सुना अन्य बानरों को की भगवान के साथ पास जो हनुमान सुग्रीव नन्नी मयंद ये सबसे सब जितने बानर थे उन सबने भी इस बात को सुना जामान ने भी सुना इन सब लोगों ने सुना तो इन्होंने क्या किया कि इलाय खाए बलवाना पहले यही चल रही है खिलाते हुए मैंने इन्होंने भी कहा था हाँ, बड़ा दिया आया चलो हम भी युद्ध करते चल करके इन्होंने अपने पूरा उत्साह अपने मन में ला करके उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया मेघनाथ के ऊपर इसके कुंभकर्ण के ऊपर तो लिए उठाए कपेर गुदर ये सब ने क्या किया किसी ने पत्थर उठाए किसी ने ब्रश उठाए ये सब ले लेकर के भारी भारी लेकर के उसके ऊपर कुंभकर्ण के ऊपर फेंकने के लिए लेकर के चले आए जा रहे ऊपर और उसके पास पहुँचते हैं और फिर खूब गर्जना करते हैं जाते हैं और जो हाथ में पत्थर लिए हुए हैं या पेड़ लिए उसे उसको कुंभकर्ण के ऊपर फेंक देते हैं तो कुंभकर्ण के शरीर में लगते भी है जा सकते लेकिन लगते हैं तो कैसे लगते हैं हाँ? आगे बताते हैं कोटि कोटि गिरे चक्र प्रहारा और करें भालू कपी के चबारा इस प्रकार से एक साथ में करोड़ों पत्थर सब तरह तमाम मानव भालू है वो सब के सब उसके ऊपर है वो हैं इस प्रकार से और करेंगे भालू कपी एक एक बारह एक एक बार में तमाम पत्थर पर्वत फेंक देते हैं और मुड़े न मन उत्तन करे न टारे लेकिन उसका इसके ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता मुड़े न मन कुंभकर्ण का ऐसा नहीं होता तो कुंभकर्ण घबराए और वहाँ से हटने की कोशिश करे भागे ऐसा नहीं करता करे न टारे वहाँ से हिलता नहीं है जहाँ खड़ा हुआ था मजबूती से जम करके खड़ा हुआ है और जीव गज अर्क फलन को मारे हो ऐसे खाया जैसे हाथी हो और जिसके ऊपर अर्क फल फेंक करके मारे जाए अर्क मन धतूरा हाँ? धतूरे के फल लेकर के हाथी को मारो तो हाथी को तो कितनी चोट लगेगी तो घायल हो जाएगा उससे कुछ असर होने वाला नहीं तो उसके इतना विशाल का शरीर इतना मजबूत उसका शरीर जिसके चाहे पत्थर लगे चाहे पेड़ ला करके उसके शरीर में आकर के लगे उसके कुछ असर शरीर नहीं होता उसी प्रकार से वहाँ पर क्षेत्र में रहती खड़ा होता ऐसा शक्ति उसकी कितनी उसकी शक्ति है ये दिखाने के लिए पहले बानर भागुओं का आक्रमण दिखाया जब ये आक्रमण करेंगे पत्थर वत्थर फेंकेंगे पेड़ उसके ऊपर डालेंगे तब ये पता लगेगा कि कुंभकर्ण में कितनी शक्ति है तब भारत सुतमुख का जब देखा कि इसके ऊपर इनका सबका कुछ असर नहीं होता है तो हनुमान जी उसके पास पहुँच गए और वहाँ पहुँच करके हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा था तो हनुमान जी के घूसे में बड़ी ताकत है साधारण बात नहीं कोई जिंदा नहीं रह सकता घूसा रहे और उसको जब घूसा मारा तो उसको क्या हुआ परे उदाहरण चाकुर सर धने तो घूसा खा करके कुंभकर्ण एक बार जमीन में गिर पड़ा बस इतनी हनुमान जी कर पाए इतने बानर से और कुंभकर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हनुमान जी ने घूसा मारा जिसके कारण जमीन में गिर पड़ा वो और सिर्धन कुंभकर्ण को ये लगा कि देखो ये तो बड़ा बलवान है इसके सामने हमारी क्या बात है जब गिर पड़े तो उसको सिर धोने को मैंने उसने अपना सिर पीटा की देखो इतनी शक्ति हमें होते हुए भी इसने हमको गिरा दिया घूसा मार दिया और फिर उठ करके वो खड़ा हुआ अब उसने कहा कि अच्छा तो हनुमान के पास दौड़ा वो तो हनुमान को घूसा मारा अपने उठे चली मारे हनुमंता तो उसने उठ करके हनुमान जी को भी घूसा मारा क्या देखो तो हमारे घूसे को देखो तुम्हारे ऊपर क्या असर होता है हनुमान जी को क्या हुआ कि घोर में तो भूतल परे उतरंता हनुमान जी को चक्कर आ गया तो चक्कर लगाए और जमीन आराम से गिर पड़े आप समझ लो कि हनुमान जी से उसका बार हनुमान जी को उसके कुंभ मसाल से पार नहीं पा सकते हनुमान जी को समझ में आ जाए ये कम ताकत नहीं बड़ा शक्तिशाली है हमने घोषा मारा ये गिरा जरूर लेकिन उसका भी गुस्सा तो हमसे कम नहीं है हमें भी गिरा दिया हनुमान जी से पड़े अब उसके बाद तब तक नंदी इत्यादि और भी दूसरे बानर थे वो सब उसके पास कुंभकर्ण के पास पहुंचे और उसके ऊपर मारने पीटने लगे उसकी युद्ध करने लगे उसे कुंभकर्ण क्या करता हूँ सबको कुछ नंदी नहीं हमने बचा रहे हो फिर सब बानरों को पकड़ करके तो धक्का मार देता तो सब गिर पड़ते कुंभकर्ण के लिए इन सबको गिराना और इनको पराजित करना कुछ मुश्किल बात है जंजील अगर पास पहुंच गए तो उसने मार सकता धाम से नीचे गिरे घुसा भी मारेंगे उसमें इतनी ताकत और जहाँ तहाँ पटकी पटकी भरे मारे और बेचारे थे और जितने बानर और भालू बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा थे सेनापति थे उन सबको उसने उठा उठा कर सबको जमीन में पटक दिया मन सब कुंभकर्ण के पास जाकर के हार गए इनकी कोई ताकत चली नहीं हुआ <clears throat> चली बड़ी मुख सेन पर आई और जो साधारण बालक बानर थे उन्होंने जब देखा कि हनुमान जी की ये हालत है और जब उन्होंने देखा कि नंदी की हालत है अंगराज की प्रकार की ये हालत है तो वे सब बानर भाग कर कहा कि हमारा बस इससे नहीं चलेगा ये सिवाय हमको मार डालेगा और कुछ नहीं करेगा इसमें बड़ी ताकत है इसलिए बानर सेना भाग चली बली मुक्त माने बानर सेना तो चली बली मुक्त सेना पढ़ाई पढ़ाई मन भाग चली और अति भय तरह से तुम्हें सब उसके करके मारे चल रहे सब है और उसको कोई कोई में उसके सामने कोई नहीं पड़ता और वो कोशिश ये करता कोई हमारे हाथ में आ जाए तो मैं उठा के पटक दूंगा लेकिन कोई बांदर भालू उसके पास आता नहीं तो अंगद कपे मूर्खित करे समेत सुग्रीव तो अंगद इत्यादि को सबको उसने मूर्छित कर दिया अंगद का नाम नहीं लिया था वो भी ले लिया हनुमान जी को इस प्रकार घूसा मारा जिन्हें में गिर पड़े मूसा नंदी को इस प्रकार धक्का मारा जिन्हें में खूब गए वो भी गिर पड़े अंगद जो थे उनको भी मारा तो वो भी मूर्छित हो गए अब रह गए सुग्रीव सुग्रीव राजा थे आखिर को उनको भी जाना पड़ा उनके साथ युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण के पास सुग्रीव को साथ में क्या हुआ वो भी समझो कहते हैं सांस कपिराज कहूँ चला तो बल सुग्रीव को उठाया और अपने बगल में दबा दिया हम्म। और युद्ध करने के लिए आगे चल दिया और कोई आवे तो वो तो बगल में दबा रहेगा फिर भी युद्ध करता रहेगा अब वो सुग्रीव जो है बगल में दबा हुआ उसके अब वो हाथ पैर अपना पकड़ा रहा है और निकले नहीं पा रहा है कितनी सुग्रीव की ताकत है देखी तो सबकी ताकत मैंने पांडवों की ताकत कितनी कम है और कुंभकर्ण की ताकत इनके सबके सामने कितनी ज्यादा है ये सब दिखा और ये सब इसलिए दिखाया जिससे कि आगे चल करके भगवान राम स्वयं आवे उसके साथ युद्ध करने के लिए और वही उसको मार पाएंगे इसलिए ये सब प्रदर्शित करने के लिए कि कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली है उनके सामने ये बानर भालू बड़े बड़े जितने भी हैं उनकी भी गणना करा दी हनुमान अंजद सुग्रीव नंदी इत्यादि जितने थे मैं इत्यादि इन सब पुण्यशाली सब पराजित हो गए बस अब इसके आगे जो है वो अब भगवान राम का युद्ध होगा मैंने अब उसकी ये स्थित भूमिका तैयार हो गई अब भगवान राम युद्ध के लिए तैयार होते हैं कहते देखो बानरों से उन सबसे कहते हैं कि तुम उनसे युद्ध करके तुम जीत नहीं सकते कुंभकर्ण से अब देखो हम जाते हैं उससे युद्ध करेंगे तो भगवान राम अपने गलत बाढ़ संभालते हैं और उसे युद्ध करते अब इसी इतनी इसके आगे की कथा अब आज तो यहाँ पर विराम होता है पुनः प्रारंभ होगी पांच तारीख पांच तारीख से आगे की कथा पैंसठ दो बस पैंसठ दोहे के आगे नान्या रघुपते हृदय समदीये सत्यम बदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुं गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम